ॐ त्यायन्तु ममाङ्गानि दात्राणश्चक्षुः श्रोत्रमखो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदन् माहम् ब्रह्मया कुर्याम् माम् महिलाकरोदलिराकरणमस्तुराकरणे तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद तृतीय अध्याय के पंचम खंड तक कुछ विचार हो गया जिसमें असौबा आदित्य देव मधु यहां से आरंभ हुआ था मधु विद्या का प्रकरण आरंभ हुआ है तो इसमें मधुगर कौन बनते हैं और पुष्प क्या है रस कौन सा है और उसको कैसे तपाते हैं और कैसे निकलता है फिर कहाँ जाके बूट बैठता है ये सब बातें बता दी पांच पांच तरह के मधु की चर्चा हो गई आगे कहते हैं वो मधु के विषय में वो उसके वो मधु का उपभोग करने वाले देवता के विषय में चर्चा है आगे मंत्र है तदयत प्रथमम अमृतम तदवसव उपजीवंती अग्निना मुखेन न वै देवास्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति तदयत प्रथमम अमृतम तदवसव उपजीवन्ति अग्निना मुखेन न वै देवा स्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतम् दृष्टि तृप्यन्ति तद यद प्रथम अमृत जो प्रथम अमृत है जो लोहित रूप वाला अमृत है जो आदित्य के पूर्व भाग में जाके बैठा हुआ है लोहित रूप पूर्व दिशा के किरणों पर जाके बैठा हुआ ये लोहित मधु है तद यद प्रथम मृतम जो लोहित मधु है वह अमृत है तद वसुभा उपजन उसका उपसेवन करने वाले वसु लोग होते हैं हम्म। उसके उपभोग करते हैं वसु कहा किंतु अग्नि की प्राधान्य करके वसु लोग उपभोग करते हैं अग्नि ना मुखे न मुखे न प्राधान्य अग्नि जिसमें प्रधान होंगे उनके माध्यम से वसु लोग उपभोग करते हैं उस संपत्ति का उपभोग करते में खाते पीते कहते नहीं न वही देवा स्नंदी न पिबंती देवता लोग खाते भी नहीं पीते भी नहीं एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्त इसी अमृत को देख कर ही तृप्त होते हैं इस रोहित रूप ये तो देव अमृत माने ये जो रोहित रूप अमृत है इसको देख करके तृप्त होते हैं बस देवता ठीक अभी कहते हैं अमृतानी ध्येयानी उक्ता अमृत अमृत के विषय में उपास्य है करके बता दिया है पूर्व में उपजीवी नो देवता गणान अनुचिंतयान उपदेश उसके सेवन करने वाले जो देवता समूह है देवता लोग हैं अनुचिंत उनके भी चिंतन होना चाहिए कौन मधु का कौन पान करते हैं कौन भोग भोग करते हैं उस देवताओं के बारे में उपदेश करते हैं कहा तत् माने तत्र तत् माने तत्र वो जो पांच प्रकार के अमृत हैं उनमें से प्रथम अमृत तत् माने तत्र मंत्र में तत्पद है उसका है तत्र तत्र यद प्रथम अमृतम जो प्रथम अमृत है रोहित रूप लक्षण जो रोहित रूप है रक्त वर्ण का है ऐसा अमृत बना था जिसमें ऋग्वेद मधुकर थे ऋग्वेद विहित कर्म पुष्प स्थान में थे और एक में डाले हुए आहुति रस आदि जो रस थे उस रस में तपाया उन मधुकरों ने तपाया ऋग्वेद ने तपाया उसको तपाया तो रक्त रंग का हो गया वो निकल आया निकल करके आदित्य के पूर्व भाग में जाकर के बैठ गया ऐसा कहा था रोहित रूप के बारे तत् माने तत्र यद प्रथमम अमृतम रोहित रूप लक्षण जो रोहित रूप स्वरूप है तद बसव वो बसु लोग प्रात सवन ईशाना प्रात सवन के ईशान है मालिक है वो ईशान माने मालिक स्वामी है हाँ। प्रातः के मालिक होते हैं वो उपजीवंती वो अग्निना मुखेना उपभोग करते हैं अग्नि के माध्यम से अग्निना मुखेना माने अग्निना प्रधान भूतेगा अग्नि जिसमें प्रधान है मुख्य है ऐसा करके अग्नि के मुख से खाते हैं ये बात नहीं है किंतु अग्नि जिसमें प्रधान है ऐसा मानते माने अग्नि प्रधाना संत अग्नि प्रधानो ये शांति अग्नि प्रधान बहुग्री समाज अग्नि जिसमें मुख्य है जिस समूह में अष्टवशु होते हैं उनमें से मुख्य है अग्नि अग्नि प्रधान माने अग्नि प्रधान हो यशाम ते अग्नि प्रधान अग्नि मुख्य है जिसमें ऐसा के उपजीवन उपजीवंती उपभोग करते हैं कहा अन्नाद्यम रसो अजायते वजनाद कबल ग्रहण कबल ग्रह असनंती प्राप्त यदि प्राप्तम तत्प्रचित अन्नाद्यम रसो अजायत आया था हाँ। माने वो रस कैसा निकला था यश तेज हो इंद्रियम दिव्यम अन्नाद्यम रसोजाए था ऐसा था अन्न और आद्य रूप अन्न खाद्य रूप अन्न आद्य माने भक्षण के योग्य अन्न ऐसा कहा था तो अन्नाद्यम रसो अजाए इस मंत्र से सिद्ध होता है कि वचनात् कवल ग्रहण अस्मंदी प्राप्त ग्रहण करना ग्रास खाना कवल माने ग्रास ग्रास को लेना ऐसा प्राप्त हुआ उसके प्रतिषेध करते हैं क्या बोल करके नवी देवा स्नंदी नवी बनती देवता लोग खाते नहीं पीते भी नहीं ये तदेव अमृतम दृष्टा तृप्तंतिका इसी अमृत को देख कर ही तृप्त होते हैं आया कथम तरी उपजीवंती उचित फिर उपजीवंती कैसे कहा तद यद प्रथम अमृतम तद बसव बसव उपजीवंती फिर कई उपभोग करते हैं कैसे कहा देखने का नाम कोई उपभोग थोड़ी होता है खाने पीने का नाम होता है प्रश्न उठा कथम तरी उपजीवंती उच्चते फिर उपजीवंती पर कैसे बोल दिया मंत्र में कहते हैं हाँ। ये तदेव ही यथोक्तम अमृतम रोहित दृष्टि उपलब्ध सर्वकरण अनुभूय तृप्यंते इसी अमृत को रोहित रूप अमृत को यथोक्तम अमृतम जो रोहित रूप अमृत है जिसमें मधुकर बने हैं ऋग्वेद मधुकर बने हुए हैं जहां से ये रोहित रूप कैसे बना हुआ है शुरू में ऋग्वेद वहां मधुकर है और ऋग्वेद विहित कर्म पुष्प स्थान में है और अग्नि में डाले हुए सोमरसादी आदि जो आहुति थी वो आहुति यहां पर रस के समान पराग जो लेते हैं ना रस लेते हैं जैसे पुष्पों से ऐसे स्थान में है रस के समान है हाँ, वो जल के स्थान में है और उसको तपाना है मधुकरों ने मानी ऋग्वेद ने तपाना है तपाया तपाने पर क्या हुआ तो रक्त वर्ण का हो गया क्योंकि पुष्पों का रस अन्य शुक्ल आदि रूप होगा क्योंकि मधु बनने के बाद में रक्तवर्ण बदल जाता है तपा दे मधुकर उसको इसी प्रकार तपाया उसको तपाने पर निकल आया वहां से निकल करके आदित्य के पूर्वभाग में जाके बैठा पड़ा था वही अमृत है है तदेव ही यथोत्तम अमृतम रोहित्रम दृष्टा इस अमृत को देखकर माने उपलब्ध प्राप्त करके यहाँ दृष्टा कर तो उपलब्ध सर्व करण अनुभूय तृप्त सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके तृप्त खाली आंख का विषय नहीं है खाली दृष्टि आयोग तृप्त करता सभी करणों से हम्म, उपलब्ध करके तृप्त होते हैं आया क्यों दृश्य सर्वकर्म द्वारा उपलब्ध अर्थत्वाद दृश्य धातु का प्रयोग है दृश्य या दृष्टवा आया है दृश्य धातु का प्रयोग है दृश्य धातु का अर्थ होता है सर्वकर्म द्वारा उपलब्ध तत्व सभी कर्णों के माध्यम से उपलब्धि के लिए दृश्य धातु का प्रयोग होता है जैसे दाल में नमक देखो बोलते हैं दृश्य धातु का प्रयोग है वहां पश्य ऐसा बोलेंगे लवणम पश्य ऐसा माने सूपे लवणम पश्य दाल में नमक देखो ऐसा बोलते हैं तो दृष्ट धातु का प्रयोग हुआ वहां देखना माने क्या होता है आंख का विषय नहीं है जीवा का विषय है दृष्ट धातु का प्रयोग सभी इंद्रियों के लिए प्रयोग हो जाता है ये कहा दृश्य सर्वकर्ण द्वारा उपलब्ध अर्थत्वाद दृष्ट धातु सभी कर्णों के द्वारा द्वार माध्यम से उपलब्धि के लिए होता है सभी कर्णों के माध्यम से उपलब्धि के लिए होता है इसलिए यहां कह दिया दृष्टवा तृप्यंती का अर्थ कर दिया रोहितम रूपम दृष्टवा मैंने उपलब्ध सर्व करण ही अनुभू सभी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके उस रूप को तृप्त होते कहा आगे शंका होती है ननु रोहितम रूपम दृष्टवा इति उत्तम कथम अन्य इंद्रिय विषयत्म रूप से रोहितम रूपम दृष्टवा ऐसा आया है माने रक्तवर्ण का रूप को देख करके ऐसा आया है रोहितम रूप दृष्टवा ऐसा आया तो स्थिति में फिर ये कहा था कथम अन्य इंद्रिय विषय तुम तो रूप से रूप तो चक्षु का ही विषय है अन्य इंद्र का विषय कैसे रोहित रूप किसका विषय है चक्षु का विषय है अन्य इंद्र का विषय कैसे होगा ये शंका आयुध कहा न अरे बाबा वो जो बना हुआ रस है जो अमृत है कितने मिलकर के बना ये सरस तेजो वीरियम अन्नाद्यम रसो अजाय ये रस निकला हुआ था वहां यश है यश किस इंद्रिय का विषय है कान का विषय कान यह शून्य का विषय होता है ये सब ये सारे मिलकर रस बना हुआ है वही अमृत बना हुआ है यशस तेज इंद्रियम वीरियम और अन्नाद्यम रस हो जाए ऐसा तो रस निकला हुआ है तो इसलिए वो रस सभी इंद्रियों का विषय होगा ये कहा होता है यश आदि नाम स्रोत्रादि गम्यत्व जैसे यश आदि यश भी तो वहां रस निकला हुआ है यशस तेजो इत्यादि कहा तो ऐसा आदि जो है स्रोत्रादि का मतलब स्रोत्रादि का विषय है खाली यहां लोहित रूप में ये सब मिले हुए हैं केवल चक्षु का विषय नहीं अन्य इंद्र का विषय है स्रोत्र ग्राह्यम यश देवता जो यश होता है अपनी कीर्ति सुनी जाती है देखा नहीं देखी नहीं जाती दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ बोले विशेषता हमारे बारे में कथन करें वो सुना जाता है न देखा जाए देखा देखने का विषय नहीं सुनने का विषय है क्योंकि वो रस निकला था जिससे लोहित रूप बना हुआ है वहां ये दिख क्या क्या था उसमें यशस तेजो वीरियम हाँ, और अन्नाद्यम रसो इत्यादि स्रोत्रग्राह्यम यश स्रोत्रग्राह्य होता है यश तेजो रूपम चाक्षुषम और तेज यशस तेज तेज होता है चक्षु का विषय होता है तेज का तेज मान रूप है वो चक्षु का विषय है ठीक है और इंद्रियम कहा था इंद्रिय क्या है खाली चक्षु के विषय नहीं विषय ग्रहण कार्यान्वय कर्म सामर्थ्य विषय ग्रहण के अनुकूलता जो इंद्रियों में सामर्थ्य है वो सभी इंद्रियों में है वो इंद्रियम का अर्थ यह है और वीरियम माने बलम देहगत उत्साह वो चक्षु में नहीं शरीर का तो एक उत्साह है बल है वो अन्नाद्यम प्रति अहम उपजीव्यमानम शरीर स्थिति कर्म यद भवती और अन्नाद्य का अर्थ होता है प्रतिदिन जो खाया जाता है सेवन किया जाता है शरीर के स्थिति करने वाला रक्षा करने वाला होता है उसको अन्नाद्य बोला जाता है प्रतिदिन जिसका सेवन होता है शरीर की स्थिति रक्षा के लिए स्थितिकर होता है वो अन्नाद्य होता है तो खाली चक्षु का विषय रूप नहीं है वो रोहित रूप ये सब रस मिलकर के बना हुआ रूप है वो इसलिए यहां दृष्टि का अर्थ सर्वकरण उपलब्ध अनुभूय प्रत्यंती ऐसा होता है <clears throat> ये कहा रसो ही एवं आत्मा का सर्व देखो ये जो रस बना हुआ है अब यहाँ लोहित रूप बना हुआ है इस इस प्रकार का है यशस तेज इंद्रिय वीरियम और अन्नाद्यम ये सब मिलकर बना हुआ है तो केवल चक्षु का विषय नहीं है ये लोहित रूप ये कहा यम दृष्टवा त्रिपंत जिसको देख करके देवता लोग तृप्त होते हैं रसो एवं एवं आत्मा इस प्रकार का है अनेक रूप है उस रस में इसलिए सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके तृप्त होते हैं है देवा दृष्टवा तृप्यंती इत सर्वम ये जो देवा इस रस को देख करके दृष्टवा तृप्यंती ये सर्व सब कुछ स्वकरण अनुभूय तृप्यंती तीर्थ अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके तृप्त होते हैं है आदित्य संश्रया संतो वैगंध्य आदि देह कर्म दोष रहता और दूसरी बात जब वो रस जा करके आदित्य में मिल जाते हैं तो क्या होगा उस स्थिति में देवता लोग इसको आदित्य में आश्रित होते हैं देवता वसुगण आदित्य होकर के वसु लोग आदित्य में आश्रित होते हुए उसमें जो दुर्गंध आदि होते थे उसको निकाल दोष रहित हो जाते हो रस में आदित्य में आश्रित होने पर रस कैसा हो जाता है दुर्गंध से रहित हो जाता है ये कहा वैगंध आदि देह कर्म दोष आश्चर्य वैगंध दुर्गंध आदि जो देह के दोषकरण से रहित भी है देवता में भी दोष रहता है रस में भी दोष रहता है ऐसा हो जाता है ठीक से देखें कवल ग्राहम कमल गृहित्व कमलम गृहित यथो लोगो अस्नाति तद्वित तो यहां पर अन्नाद्यम रसो अजायता ये वचन है होने से क्या होगा ग्रास ग्रहण करना ये अर्थ आता है कहते हैं तो कहा यहाँ उसका निषेध किया जाता है कहा ठीक है कहते हैं कबल ग्राहम मैंने कबलम गृहित यथा लोको स्नाति ग्रास को लेकर के जैसे लोग खाते हैं ग्रास कबल बोलते हैं ग्रास में एक ग्रास होगा उसको कबल कहते हैं कबलम गृहित यथा लोको स्नाति जैसे लोग माने ग्रास को ग्रहण करके खाते हैं तदवत उस प्रकार यहां नहीं समझना चाहिए वो प्राप्त था अनाद्यम शब्द से प्राप्त था उसको निषेध किया जाता है देवता लोग खाते भी नहीं पीते भी नहीं देख कर ही तृप्त होते हैं इत्यादि अच्छा। ननो असर पाना भावे न युक्तम उपजीवन वचनम तो जब देवता लोग खाते भी नहीं पीते भी नहीं असन भी नहीं असन माने भोजन पान भी नहीं भोजन भी नहीं पान भी नहीं खाते भी नहीं पीते भी नहीं स्थिति में तो नयुक्तम जीवन जीवनम वचनम फिर उनको उपजीवन की माने जीवित रहते हैं कहना बनता नहीं है खाए पिए बिना कौन जीवित रहेगा ये शंका इतिहास के परिहरती कथम ये शंका उठाई कथम तरी उपजीवंती उपजीवंती पद कैसे पद प्रयोग कर दिया जब खाते पीते नहीं है तो कहा ये तदेव ही अमृतम यथोक्तम अमृतम रोहित अमृत दृष्ट उपलब्ध सर्व करणे अनुभव सभी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके तृप्त होते हैं चक्षुषा इति वक्तव्य कथम सर्वकरणे अधिकम उच्यते हाँ तो यहाँ ये देव यथोक्त अमृत रूपम दृष्ट मैंने सर्वकरण अनुभूय कैसे बोल दिया चक्षुषा अनुभूय बोलना चाहिए था सर्वकर्ण अनुभूय कैसे बोल दिया रूप की चर्चा है ये देव रूपों दृष्ट इसी रूप को देखकर तो चक्षुषा अनुभूय बोलना चाहिए एक एक वचन है वहां चक्षु तो सर्वकर्ण कैसे बोल दिया ये शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहे ननु ये शंका उठा रहे हैं ननु रोहितम रूपम कृष्णा रोहित रूप चक्षु का विषय है तो पूर्ववादी यही बोलता है रोहित देव रूपम दृष्टवा कहा था रोहितम रूपम दृष्टवा यदि उत्तम ऐसा कहा प्रथम अन्य विषय तुम रूप से रूप अन्य का विषय कहा था चक्षु का विषय अन्य का विषय कैसे होगा ये शंका आ गई तो उत्तर देंगे ठीक है ठीक है कहते हैं कर्मफूल फलभूत रसस्य ये जो कर्म का फलभूत रस है आदित्य रूप रस कर्म का फल है पूर्व में कर्म कर्म की चर्चा हुई उसके बाद फल की चर्चा है कर्मफल भूत रहस्य जो तो कर्मफल भूत रहस्य है लोहित अमृतात्मक जो लोहित है और अमृत रूप है मैंने मतलब रोहित है अमृत रूप है ऐसा रस जो है नास्ती चक्षु मात्र ग्राह्यत्व केवल चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं होता ये रस तो कर्म का फल है सभी इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त होगा कर्म का फल इति परिहरती उत्तर देते खंडन करते हैं न करके भाषण का न ऐसा आदि नाम स्रोत्र आदि गंगत्व खाली चौक्ष का विषय नहीं ये बना हुआ है रस जो निकला था हाँ केवल तेज नहीं था यशस तेज हाँ, वीरियम इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रसो अजायत ऐसा था तो सबके सब चक्षु का विषय नहीं जो रस निकला हुआ है ये उत्तर दिया <clears throat> ठीक है किम यथावता रस से आयातम फिर इतने मात्र से रस में क्या आया तब कहते हैं उत्तर देते हैं रसो ही इत्यादि कहा था भाष्य में रसो ही एवं आत्म के सर होगा एवं आत्म का मान क्या है श्रोत्र ग्राह्यम यश तेजो रूपम चाक्षुषम इंद्रियम विषय ग्रहण कार्य अन्वेयम कर्म सामर्थ्यम वीरियम बलम देहगत उत्साह प्राणवत्ता अन्नाद्यम प्रति हम उपजीव्यमान शरीर सिद्धिकरम यद भवती इत्यादि जो कहा था रसोई एवात्मक एवं आत्म रस इस प्रकार का है या ये कि केवल तेजी तेज नहीं तेजी केवल तेज रस होता तो चक्षु का विषय होता किंतु यहां पर ये श्रोत्रग्राही है यश और तेजो रूप चाक्षुष है चक्षु का विषय तेज तेज है और इंद्रिय का अर्थ होता है विषय ग्रहण कार्यान्वय विषय ग्रहण इंद्रिय है करके कैसा पता है कहते हैं विषय ग्रहण रूपी कार्य से अनुमेय होता है इंद्रिय इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होती है आंख है कैसे पता लगता है रूप दिखता है इसलिए आंख है अनुमान के विषय अनुमेयम इंद्रिय अनुमेय होते हैं करण सामर्थ्य है माने अपने अपने कार्य करने के सामर्थ्य दिखाई पड़ते हैं और वीर्य माने क्या है बल है देहगत उत्साह प्राणवत्ता प्राण हाँ, हाँ, हाँ। और अन्नाद्य माने होता है प्रति हम उपजीव मानव शरीर सिद्धिकरण यद यह है ऐसा रस पैदा हुआ कहा था ये कहा रसो ही एवं आत्मा का इतने स्वरूप होकर के रस बना हुआ है खाली तेज नहीं है खाली तेज होता तो चक्षु का विषय मान लेते तो अन्य भी हैं ये कहा यम दृष्टा त्रिपंथी जिसको देखते तृप्त होते हैं इत्यादि टीका में इति तस्यापि स्रोत्राधिग्राह्यता विशेष इसलिए रस तस्यापि रसस्यापि स्रोत्राधिग्राह्यता स्रोत्रादि से भी ग्रह्य होता है वो रस क्योंकि कई मिलकर के बना हुआ है वो रस एतदेव इत्यादि वाक्यम उपसंग एतदेव रसम दृष्टवा उपसंगरती इत्यादि वाक्य था एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्तम की ऐसा वाक्य उसको उपसंगार करते हैं देवा इत्यादि कहा देवा दृष्टवा तृप्यंती देवता लोग उन्होंने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके तृप्त होते आता है सर्वम स्वकरण अनुभूय तृप्तयंती सबके सब जितने भी हैं अपने अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके तृप्त होते यह अर्थ है माने कोई कान से तृप्त होंगे सुन करके तृप्त होंगे ये शादी है कोई देख करके तृप्त होना है हाँ। और कोई कर इंद्रियों में सामर्थ्य को लेकर तृप्त होना है और देहगत प्राणवत्ता को लेकर के तृप्त होना है और अन्नाद्य लेकर के शरीर के स्थितिकर को लेकर के तृप्त होना यह है ये कहा ठीक हम कहते हैं किम तेसाम स्वतंत्राणाम तृप्ति नत्या देवता लोग आदित्य में आश्रित होने पर ही तृप्त होते हैं क्यों कहा आदित्य में एक होकर के पशु लोग उसको उपभोग करते हैं क्यों कहा क्या स्वतंत्र रूप से तृप्ति नहीं होती उनकी ये शंका है किम तेषा मन देवानाम उन देव पशु आदि देवताओं का स्वतंत्राणाम तृप्ति न स्वतंत्र रूप से तृप्त नहीं हो सकते वो ये शंका आई तो कहा आदित्य संश्रया संत आदित्य में आश्रित होने पर ही क्या होता है अपने में जो दुर्गंधी आदि थी वो निकल जाती है दुर, दुर्गुण था वो निकल जाता है आदित्य शुद्ध है आदित्य संश्रया संतो आदित्य में आश्रित होते हुए वैगंध्य आदि देह कर्म दोष रहित आचार माने अपने में जो देह में दुर्गंध आदि एक इंद्रिय अपने शरीर में जो दोष थे वो रहित होकर आदित्य में आश्रित होकर दोषों से रहित होकर के उपभोग करते ही अर्थ है ये कहा आगे मंत्र है आगे तदेव रूपम अभिशंति ये उद्यंती रूपम अभिशंति ते देवा वो जो वसु आदि देव हैं वसु अग्नि प्रधान होकर के जो रोहित रूप का अनुभव करते हैं वो जो देवता लोग हैं वसुवादी देवता हाँ, देवगण एतदेव रूपम अभिशम इसी रूप में अपने भोग काल जब समाप्त हो जाता है उनका भोग काल पूरा होगा जब उदासीन हो जाते हैं इसी रूप में लक्षित करके उदासीन हो फिर कब हमारा भोग का समय आएगा ऐसा करके उदासीन हो जाते हैं और ये तस्माद रूपात उद्यंती जब उनका भोग का समय आएगा दोबारा क्यों ये आदित्य के बारे में ऐसा बताएंगे पूर्व से उदय होना पश्चिम में अस्त होना दक्षिण से उदय होना उत्तर में उजाना माने सभी को मिलना है भोग का वसु को मिलेगा रुद्र को मिलेगा आदित्य को मिलेगा सभी को मिलेगा अपने अपने समय में ऐसा होगा सूर्य का चक्र दिखाएंगे हम घूमता हुआ दिखाएंगे तो अपने जब बारी आ जाए भोग काल आने पर फिर वो उत्साहित हो जाते हैं उस अमृत को भोग करेंगे उत्साहित होते हैं कहा ते देव रूपम अभिशंति जब भोग काल समाप्त समाप्त हो जाता है इनका उस काल में इसी रूप को लक्षित करके उदासीन हो जाते हैं फिर जब हमारी बारी आएगी घूमता हुआ सूर्य आ रहा है जब हमारी बारी आएगी पूर्व दिशा में सूर्य आने पर हमारे बारी है क्यों पूर्व दिशा संबंधी पशु पर भोग करते हैं पूर्व दिशा के किरणों में मधु बैठा हुआ है दक्षिण दिशा वाले के लिए रुद्र रुद्रगण भोग करेंगे पश्चिम दिशा वाला आदित्य और उत्तर दिशा वाला साध्य लोग भोग करेंगे ऐसा ऐसा आएगा तो सूर्य की परिक्रमा के आधार पर जब अपनी बारी आ जाए उसके लिए ते एतद एव रूपम अभिषम विषमता इसी रूप जो लोहित रूप है इसी में इसी में उदासीन होकर के रह जाते हैं लक्ष्य करके अपनी बारी को देखते हुए और एक तस्मात रूपात उद्यंती और जब उनके अपने समय भोग के समय अवसर आ जाएगा तो उत्साहित हो जाते हैं उसी रूप में चेका भाष्य में कहते किम ते निरुद्यमा अमृत अमृतम उपजीवंती क्या प्रयत्न रहित होते हुए अमृत का उपभोग करते हैं वो लोग जो देवता वसुगण आदि किम ते वो जो देवता ते देवा निरुद्यमान उद्यम रहित प्रयत्न रहित होकर के अमृतम उपजीवंती प्रश्न उठा क्या अमृत का उपभोग करते हैं तो कहा सिद्धांत का न उद्यम रहित होकर के नहीं करते हैं प्रथम तर ही प्रश्न हुआ फिर कैसे फिर तब तो उत्तर देते हैं एक देव रूपम अभिलक्ष्य इसी रूप को लक्षित करके जब हमारी बारी आएगी अधुना भोगावसरो न अस्मागम इस समय में हमारी भोग का समय नहीं अभी सूर्य दक्षिण में उदय हो रहा है हम पूर्व वाले हैं अभी पश्चिम उदय हो रहा है अभी उत्तर में तो उदय हो रहा है ऐसा देव ही रूपम अभिलक्ष्य इसी रूप को अभिलक्ष्य करके जब इसकी बारी आएगी रोहित रूप होगा सूर्य का जहां पूर्व दिशा में आएंगे जब वृक्ष अधुना भोगावसरो अस्ना अस्माकम बुद्धवा इस समय में हमारा भोग का अवसर नहीं है भोग काल नहीं ऐसा जानकर अभिषम विशंति मैंने उदास उदासीन हो जाते हैं <clears throat> जब दूसरी दिशा में सूर्य पहुंचा हुआ है उस स्थिति में अपने लिए ऐसा मानते हैं यदा वही तस्य अमृत से भोगावसर हो जब उस अमृत का भोगावसर कब जब सूर्य का पूर्व दिशा में आना होगा जब क्योंकि वर्षुगढ़ पूर्व दिशा के अमृत के भोगी हैं भागी हैं अच्छा भोगावसर हो गए जब जिस समय में उस अमृत का भोग का अवसर होगा रोहित रोहित अवसर होगा तब तदा तस्मात अमृता इसी अमृत से अमृत भोग निमित्तम इत्यर्थ अमृत भोग के निमित्त से क्या होगा एतस्मात रूपात उद्यंती मतलब उत्साह हो जाती फिर इसको भोग करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं जब अपनी बारी आ जाए उनकी क्योंकि सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं हम्म, परिक्रमा में चल रहे हैं घूम रहे हैं उस स्थिति में ऐसे जब अपने स्थान में सूर्य आ जाए उनका भूख का अवसर होगा पूर्व दिशा में आने पर वसुओं का भूख का अवसर होगा दक्षिण दिशा पहुंचने पर रुद्रों का होगा पश्चिम दिशा पहुंचने पर आदित्य का भोग का काल होगा उत्तर दिशा पहुंचने पर साध्यों का होगा भोग काल स्थिति आएगी तो अब भोग का समय आने पर एक तस्माद रूपात अत्यंत उत्साहवंत बाधिका है नहीं अनुत्साह बताम अनुष्ठताम अलसानाम भोग प्राप्ति योग्य दृष्टा एक दृष्टांत से समझ आते हैं जो उत्साह रहित व्यक्ति हैं माने अनुष्ठान नहीं करते माने प्रयत्न नहीं करते भोग प्राप्ति के लिए आलसी हैं उनको लोग में भोग प्राप्ति नहीं देखी गई तो उनको भी प्रयत्न करना पड़ेगा उत्साहित तो होना पड़ेगा भोग प्राप्ति के लिए एक नहीं अनुत्साह बताम जिसमें उत्साह नहीं है जिन लोगों में अनुष्ठित अनुतिष्ठताम जिसमें अनुष्ठान नहीं हो रहा है मैंने प्रयत्नशील नहीं है भोग के लिए अलसा नाम आलसी लोग हैं उनका भोग प्राप्ति न दृष्टि लोके न दृष्टा लोके का भोग प्राप्ति तो नहीं देखी गई तो इनमें भी आलस्य पड़े रहेंगे तो भोग प्राप्ति नहीं होगी इसलिए तस्मात यह तस्मात रूपात उद्यंती ये भी होगा उसी रूप से ही वो उत्साहित हो जाते हैं भोग का अवसर आने पर एक कहा ठीक है कहते हैं ये तस्मात रूपात यदि व्याख्या अनुवाद मात्र <clears throat> ये जो ये तस्मात रूपात उद्यंती का ही ये व्याख्यान है सब उत्साहवताम देवानाम यथोक्त अमृत उपजीवित्व इतर लोक प्रसिद्धि अनुकूल है जो उत्साह वाले देवता हैं उनका यथोक्त अमृत उपजीवित्व पूर्वक कथित जो अमृत है लोहित रूप अमृत का उपजीव मान सेवन होना लोक प्रसिद्धि का अनुकूल करते हैं नहीं इत्यादि कहा मारे प्रयत्नशील नहीं है व्यक्ति तो उस स्थिति में भोग प्राप्ति लोक में नहीं होती है थाली में भोजन ला के रखा अघात नहीं चलाता मुंह नहीं चलाता खा नहीं सकता प्रयत्नशील होना पड़ता है तो भोग का अवसर आने पर प्रयत्नशील हो जाते हैं भोग का अवसर जाने पर उदासीन हो जाते हैं यह अर्थ है ये कहा आगे मंत्र है स ये तदेव अमृतम वेद वसूनामेव एको भूत अग्निनैव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिशंविशति एतस्मादुपादुदेति वेद वसूनामेव एको भूत्वा मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एक रूपम अभिशंशति ये तस्माद स उपासक जो आदित्य को उपासक होगा अब उपासक के बारे में स स या जो कोई भी उपासक हो एतत एतद एवं अमृतम वेदा जो आदित्य रूप जो अमृत है इसको जो जानता है आदित्य रूप मधु असौ का आदित्य देव मधु आया था यह आदित्य रूप मधु को जो जानता है अमृत मधु को जानता है वसुनाम एवं एक वो, उपासक भी वसु के साथ में एक होकर के वसुओं के साथ एक होकर अग्निदैव मुखे ना अग्नि प्रधान होकर जैसे वसुओं का भोग काल में अग्नि प्रधान है उसी प्रकार उपासक भी वसुओं के साथ एक होकर के अग्निदैव मुखे ना अग्नि के माध्यम से ही एतदेव अमृतम दृष्टि तृप्ति इसी अमृत को देख करके वो भी तृप्त होता है कौन उपासक भी तृप्त होता है सर एकदेव रूपम अभिसम विशति इसी रूप में जब भोग का अवसर नहीं है तो उदासीन हो जाता है उपासक भोग काल जब नहीं होगा ये तस्मात रूप उदयती जब भोग काल आ जाए इसी रूप से उत्साहित हो जाता है ठीक है कहते हैं पाठक्रमेण उक्तम ध्येय स्वरूपम अनुद्य साधिकारम ध्यान विधि दर्शयती कारण पाठक्रम से ध्येय स्वरूप बता उपास्य स्वरूप बता दिया असौवादित्य देव से लेकर के यहां तक अभी तक पाठक्रम से क्या बताया उपास्य स्वरूप का अनुवाद करके अब अधिकार हम्म, सारी अधिकार के साथ उपासना विधि को दिखाते हैं सा या कोई भी उपासक ऐसा हो उपासना करता हो उसके लिए फल है ये उसको भी उन्हीं वस्तुओं के साथ एक हो करके उसी अमृत को पान करने को मिल जाएगा तृप्त तो होगा ये कहना चाहते हैं स या भाष्य भाष्य में कहा स या कश्चित कोई भी हो जो उपासना करे वही है या कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है स या कश्चित एतद एवं एतद एवं मान इस प्रकार जानना इस अमृत को जानना मान यहां एतद एवं का अर्थ क्या करना है यथोदितम रिंग मधुकर ताप रसक्षरण ऋग्वेद वेद कर्म पुष्पा तस्य च आदित्य संश्रयण रोहित रूपत्व च अमृत राजिदिग्गत रश्मिनाड़ी संस्थान वसुदेव भोग्यताम तद विधन वसुवी सह एकता गत्वा अग्निनामुखिन उपजीवनम दर्शन मात्र तृप्तिम सभोगावसर उद्यमनम तत्कालापाए संवेशनम वेद सोपी वसुवत सर्व तथे अनुभवती सारा एक वाक्य बना के रखा है जो कोई व्यक्ति हो यथोदितम जैसा कहा बदधातु से निष्ठा करेंगे तो उदित हो जाता है बदधातु जैसा कहा गया उसे निष्ठा प्रत्यय करने पर बची सोपी में किति से संप्रसारण हो गया उद बन गया धातु सेठ ईट हो गया बन गया उदित यथा उदित जैसे कथित है जैसे कहा जैसे कहा रिंग मधुकर ऋग्वेद को मधुकर बनाया था पूर्व दिशा संबंधी अमृत के लिए आदित्य के जो पूर्व भाग में रश्मियां हैं वहां मधु बनाने वाले कौन है ऋग्वेद रिंग मधुकर ऋग्वेद को मधुकर बनाया मधुमक्खी के स्थान में रखा है उन मधुकर के द्वारा ऋग्वेद में पुष्प को तपाया क्या पुष्प से रस लिया गया इत्यादि और ताप उन्होंने ताप किया उस रस को तपाया उसके बाद उस रस ने क्षरण किया बाहर निकला वो और ऋग्वेद भी तो कर्म पुष्पात क्षरणम है तस्य आदित्य संश्रण वो रस जाकर के आदित्य में जाके आश्रित हो गया पूर्व भाग में रोहित रूपत्व जब रोहित रूप बन गया हम्म। और जब अमृत प्राग प्राची दिग्गत रश्मि नारी संस्थान और जो अमृत निकला हुआ है वह पूर्व दिशा संबंधी जो रश्मि में संस्थित हो जाना और वसुदेव उपभोग्यदान उस अमृत का उपभोगी कौन भोग करने वाले कौन वसु हैं ये सब तद विदस्त वसुविषा और इसको जानने वाला जो होगा उपासक वह भी वसुविषा एकताम गत्वा वसुओं के साथ एक होकर के अग्निना मुखेनो मुजीवन उसके लिए भी वही वर्षों के साथ एक होगा अग्नि प्रधान होकर के भोग करना उपासना के लिए दर्शन भोग करना माने क्या है तो दर्शन मात्र कृत्रिम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके तृप्त होना खाना नहीं अच्छा सो भोगावसर उद्यमनम और अपने भोग काल आने पर उत्साहित हो जाना और तत्काला पाए तो संवेशनम और भोग काल के अपाय होने पर भोग काल समाप्त होने पर फिर उदासीन हो जाना ये सब बातें बेरा यह सब जो जानता हो ये सारी बातें जो जानता है सो भी वसुवत सर्वम तथे भगवती वो व्यक्ति भी वसु के समान सब कुछ हो जाता है वसुओं को जैसे जैसा हुआ वसु को वैसे हो जाता है ये कहा टीका में कहा एतत इति अस्माकम मधु निदर्शी कहते हैं ये एतत शब्द है ना <clears throat> ये किसके लिए कहा हमारे जो मधु है असौभा आदित्य देव मधु करके कहा था वसुओं का मधु नहीं लेना असौभा आदित्य देव मधु करके हमारे लिए मधु दिखाया था ये कहा एतत एतत मधु आया है तो सय कश्चित एतद एवं इत्यादि में जो एतद पद आया तो एतद का अर्थ है अस्माकम मधु दृश्य हमारे द्वारा जो देखा जा रहा मधु जिसको जिस मधु को हमें दिखाया था अशोभा आदित्य देव मधु ऐसा कहा था टिप्पणीकार कहते हैं अस्माकम उपासका नाम उपास्यम आदित्य रूप मधु हमारे लिए उपास्य मधु कौन है आदित्य रूप मधु अस्माकाम अस्माकम उपासका नाम हम जो उपासक लोग हैं हमारा उपास्यम जो उपास्य वस्तु है आदि रूप मधु न तो लोहित आदि रूपम लोहित आदि रूप मधु उपास्य हमारे लिए नहीं अशोभा आदित्य देव करके हमारे तो उपास्य आदित्य को बताया मधु ऐसे मधु लेना ये तत् शब्द से ऐसा मधु लेना हाँ, ये बताया एवं शब्दार्थम शरीर एवं एवं इस प्रकार जानता है तो किस प्रकार तो इसको दिखाया यथोदितम पूर्व में कथित जितने भी हैं ये कहा वसुदेव भोग्यताम वसुधीर देव उपजीव्यम इति वसुदेव भोग्यताम का अर्थ है वसुदेवताओं के द्वारा उपसेवन हो जाना यही है तथा श्रुति उपक्रमण तथा श्रुति में जैसे बताया उसी प्रकार जो जानता है पशुओं के जैसा कहा उसी प्रकार जो जानता है उसका भी पशुओं के साथ एक होकर के उसी प्रकार भोग देता है तो बता आगे मंत्र है सयावद आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता वसुना तावद आधिपत्यम स्वराज्यम परिएता सयामन आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता वसूनामेव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता स उपासक वो जो उपासक है वो जो आदित्य के उपासक है वह यावत आदित्य पुरस्ताद उदयता जब तक सूर्य पूर्व से उदय होते पश्चिम में अस्त होते पुरस्ताद उदयता पश्चात अस्त में था पूर्व से उदय होना पश्चिम में अस्त होना होता है जब तक आदित्य का ये चलता है वसुनाम एवं तावत आधिपत्यम वो वसुओं का आधिपत्य काल है वो उस काल में वसु लोग भोग करते हैं और स्वराज्य पर वसुओं के समान वो भी वसुओं के जो आधिपत्य है हाँ, और स्वराज्य है वो प्राप्त कर लेता है ये उपासक भी प्राप्त करता है परियता प्राप्त करता है वसुओं का आधिपत्य को भी प्राप्त करेगा और स्वराज्य भी प्राप्त करेगा वसुओं का जितना भोग काल है उतने काल को वो स्वराग भाव से भोग करेगा माने दूसरे के अधीन होकर के नहीं ठीक है हम कहते हैं भोग काल परिमाण प्रश्न पूर्वक हम निर्धार रहते हैं भोग काल का परिमाण कब हो कितना होगा पशुओं का भोग काल कितना समय है रुद्रों का कितना समय है आदित्य का कितना समय है साध्यों का कितना समय है इत्यादि भोग काल का जो परिमाण है मापदंड है प्रश्न पूर्वक निर्धारित प्रश्न पूर्वक निश्चय कराते हैं कियंतम कालम विद्वान तम अमृतम उपजीवती कितना समय तक वो उपासक विद्वान मन उपासक कियंतम कालम कितना समय तक विद्वान मन उपासक तद अमृतम उपजीवती उस अमृत का उपसेवन कब तक करता है भोग कब तक करेगा कितना समय तक करेगा उच्चते कहते जितना समय पशु का होगा उतने समाप्त करेगा ठीक है स विद्वान यावद आदित्य पुरस्ताद उदयता प्राच्याम दिशि उदयता पश्चात मैंने अस्त देता जब तक सूर्य पूर्व में उदय होता है जितने समय में और जितने समय तक पश्चिम अस्त होगा पूर्व से पश्चिम की गति होगी यावत विद्वान यावत आदित्य पुरस्ताप माने प्राच्याम दिशि उदयता पुरस्कार का मतलब प्राच्याम पूर्व दिशा में उदित होता है पश्चात प्रतीच्याम अस्तमेता पश्चिम में अस्त होता है तावत नाम भोग काल उतने वसुओं का भोग काल होता है उतने समय भोग काल होता है तावन तम एव कालम उतने समय तक ये उपासक भी वसुओं का जितना काल है तावन तम एव कालम उतने समय तक वसुनाम आधिपत्यम स्वराज्य पर्यता <clears throat> वसुओं का जो आधिपत्य है आधिपत्य है और स्वराज्य भाव है वो दोनों को प्राप्त कर लेता है परितो गंता बहुत ही न यथा चंद्रमंडल स्तर केवल कर्मी परतंत्रो देवानाम न भूत जैसे स्वर्ग जाने वाले होते हैं या कर्म करके अग्निहोत्र आदि बड़े बड़े कर्म करके गए हुए हैं स्वर्ग में दर्श पूर्वास या किया स्वर्ग पहुंचे चंद्रमंडल पहुंचे स्वर्ग पहुंचे तो वहां वहां के जो देवता होते हैं उनके अधीन होकर के इनको भोग करना पड़ता है स्वतंत्र भोग नहीं मिलता इनको कर्म करके जाने वाला का न यदा चंद्रमंडल लस्ता केवल कर्मी केवल कर्मी जो उपासना जिनके जीवन में नहीं है केवल कर्म है चंद्रमंडल में स्थित जो केवल कर्मी लोग हैं परतंत्र देवाना अनुभूता देवताओं का अन्न बन करके भोग्य बन करके देवता उनसे काम लेते हैं हाँ, यहां से जाने वालों से अधिकार उनके हाथ में है जो अजान देव सूर्य से देवता है ये कर्मदेव हैं ये कर्म से देवता बनते हैं कर्म करके जाने वाले कर्मदेव वो जन्म से जो देवता है वो आजान देव वो परंपरा से देवता है अधिकार उनके हाथ में है हाँ, ऐसी स्थिति है तो ऐसा भोग नहीं मिलेगा उसको हम्म, जैसे चंद्रमंडल में पहुंचे हुए लोग जो होते हैं स्वर्ग पहुंचे हुए लोगों के केवल कर्मी हैं परतंत्र होकर देवताओं का अन्न बनना मानी भोग्य बन करके हाँ देवताओं की सेवा करना पड़ता है ऐसा करके रहते हैं इस प्रकार नहीं होता स्वराट बन करके भोग करेगा वो जैसे वसुओं का आधिपत्य है स्वराज्य है उसी प्रकार ये प्राप्त करेगा उपासक किम तरही अयम आधिपत्यम स्वरार्धावम च अधिगछत ये जो उपासक है अयम मने ये उपासक किम तरी प्रश्न हुआ फिर कैसे भोग प्राप्त करता है तो कहा अयम मने उपासक है ये जो उपासक है जो आदित्य मधु का उपासक है आधिपत्यम स्वरार्धावम च आधिपत्य स्वतंत्र होकर के और सुराट भाव स्वेद आदित्य सुराट दूसरे के अधीन न होकर अधिक अच्छा की वो भोग प्राप्त करता है यह अर्थ है कहा ठीक है आधिपत्यम स्वराज्यम यदि विशेषण यो तात्पर्य कहा दो विशेषण दिया है आधिपत्यम और स्वराज्यम दो विशेषण है भोग मानी अमृत का आधिपत्यम स्वराज में जो विशेष आयु हो तात्पर्य तात्पर्य बताते हैं न यथा चंद्रमंडल केवल कर्मी परतंत्र देवान अनुभूता ये तात्पर्य यही है ये दिखाया कि वो जैसे चंद्रमंडल में स्थित माने स्वर्ग में स्थित जो केवल कर्मी है परतंत्र होकर के देवाओं को भोग्य बन करके भोग प्राप्त कर दे ऐसा नहीं है ये स्वतंत्र होकर के भोग प्राप्त करेगा आगे आगे मंत्र है <clears throat> अथ यद्वितीय अमृतम तद्रुद्रा उपजीवती इंद्रेण मुखेन न वै देवास्मती न पीबंती एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति अथ यद्वितीयम् अमृतम् तद्रुद्रा उपजीवती इंद्रेण मुखेन न वै देवास्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्माद्रूपादुद्यन्ति त एतदेव रूपम् अभिविशन्ति ये तस्मा रूपाद उद्यंती सया एतदेव वेद रुद्राणाम एको भूत इंद्रेण मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव एतदेव रूपम अभिसंविशति ये उदेति <coughs> अच्छा। कहते हैं देखो अथ यद द्वितीय अमृतम जो दूसरा अमृत है दूसरा अमृत शुक्ल रूप है जो कि यहां पर यजुर्वेद मधुकर बनते हैं यजुषैव मधुकर ऐसा बोला हुआ है और यजुर्वेद विहित कर्म पुष्प स्थान में होंगे और यज्ञ में प्रयोग किया हुआ जो सोमरस आदि वो रस हैं जो अमृत बनने के लिए रस होते हैं ऐसा होता है तो यजुर्वेदी रूपी मधुकर यजुर्वेदी कर्म रूपी पुष्प से वो रस को निकालते हैं जैसे मधुमक्खी पराग निकालती उस रस से वहां से रस निकालेंगे वो रस निकल करके क्या हो जाता है वहां से <clears throat> वो यज्ञ का जल है वो वो निकलता है तो आदित्य तक जाता है वो मधुकर उसको तपाते हैं पहले तपाने के बाद में शुक्ल रूप पैदा हो जाता है शास्त्र में प्रसिद्ध है शुक्ल रूप होगा ये मधु शुक्ल रूप होगा और दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के बैठ जाएगा आदित्य के दक्षिण के तरफ में किरण है उसमें जाकर बैठ जाएगा ये कहना है अतः यद द्वितीय अमृतम तद रुद्रा उपजन जो द्वितीय अमृत है जो दक्षिण दिशा के तरफ में आश्रित है आदित्य के जा करके बैठा हुआ है उस अमृत का उपभोग कौन करते हैं रुद्र लोग उपभोग करते हैं किंतु इंद्रेण मुखे में इंद्र जहां प्रधान होगा इंद्र की प्राधान्य में रुद्र लोग उपभोग करते हैं उसका अमृत का कोई पूर्व जैसे ही नवई देवा स्नती न देवता लोग खाते पीते नहीं है ये तो देवा अमृतम तृष्टा त्रिपंधी इसी अमृत को देख करके तृप्त होते हैं माने सभी करणों के द्वारा अनुभव करके तृप्त होते हैं ये आता है क्योंकि अमृत तो वही है यशस तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम ये यही रस है वहां निकला हुआ जो तो सभी इंद्रियों के विषय होता है वो खाली चक्षु का ही नहीं एक ते एतदेव रूपम अभिषम विशांति जब अपना भोग काल समाप्त हो जाता है उनका ये दक्षिण दिशा की तरफ आए रुद्र लोग उनका भोग काल पश्चिम दिशा की तरफ आदित्य तो पहुंचेगा तो दक्षिण दिशा की तरफ भोग काल समाप्त हो जाता है ते देव रूपम अभिशम देगा अपना भोग काल समाप्त हो जाता है इसी रूप को लक्ष्य करके कब हमारी बारी आ जाएगी ऐसा करके उदासीन हो जाते हैं और एतस्मात रूपाद उद्यंत जब आदित्य परिक्रमा करके जब दक्षिण की तरफ पहुंच जाते हैं दोबारा उस स्थिति में फिर उत्साहित हो जाते हैं इसी रूप भोग करने के लिए इत्यादि शब्द है और वो उपासक के लिए भी यही है स माने उपासक जो आदित्य वधु का उपासना करने वाला स या कोई भी उपासक हो ये तदेव अमृतम वेद इस अमृत को जो जानता हो जिसके यजुर्वेद वधु का रहस्य से लेकर के जहां तक अमृत है चर्चा है शुक्ल रूप अमृत है जो जानता हो रुद्राणाम एवं एक भूतवा रुद्रों के साथ एक होकर के इंद्रेण मुखे ना इंद्र के माध्यम से एतदेव अमृतम दृष्टा त्रिपति इसी अमृत को शुक्ल रूप अमृत को देख करके तृप्त होता है उपासक भी स एतद एव रूपम अभिषम विशति जब अपने भोग काल समाप्त होगा तो उस स्थिति में इसी उदासीन हो जाता है इस रूप को लक्ष्य करके और तस्माद रूपात होते थे उपासक जब भोग काल आने पर इसी रूप से भोग के लिए उत्साहित हो जाता है यह अर्थ करते हैं टीका में कहा प्रथम अमृतम अधिकृत्य चिंतनी में उक्त द्वितीय अमृतम आश्रित तद दर्शेगी प्रथम अमृत को लेकर के विषय बना करके चिंतनीय विषय बता दिया सारा उसे प्रथम प्रयाग में इसलिए द्वितीय अमृतम आश्रित तद दर्शेगी उसी को चिंतनीय वही वस्तु है यहाँ वही दिखाते हैं अथ इत्यादि का अथ यह द्वितीय अमृतम तदविता उपजीवंती इत्यादि समानम सब समान है माने प्रथम पर्याय में जैसा कहा हुआ है द्वितीय पर्याय में वैसे समझना ऐसा बता <coughs> आगे <coughs> सयावद आदित्य पुरस्थानुदेता पश्चात अस्तमेता विस्तावत दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता रुद्राणाम तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्यता स यावद आदित्य उदेता पश्चात अस्तमेता द्विस्तावत दक्षिणत उदेतोत्तरतो अस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यम स्वराज्यम परियेता वो उपासक जो द्वितीय मधु का उपासना करने वाला उपासक है वह उपासक यावत आदित्य पुरस्तार उदयता पश्चात अस्थिरता जितने समय में सूर्य पूर्व से उदय होता है पश्चिम अस्त होता है जितने समय उसका है दिश तावत दक्षिण का उदयता उत्तर का अस्त होता उससे दुगुना समय दक्षिण में उदय होना उत्तर का अस्त होना होता है आदित्य का ऐसा बता रहे हैं ये कैसे संगति लगाएंगे आगे भाष्य आदि जितने समय में पूर्व से उदय होकर के पश्चिम अस्त होता है सूर्य उतने समय दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में अस्त होता है दुगुना समय में रुद्राणाम आधिपत्यम इतना मानी पूर्ववासियों की अपेक्षा वसुओं की अपेक्षा रुद्रों के दुगुना समय है भोग का भोग काल रुद्राणाम तावत आधिपत्यम स्वराज्य पर्यता वो उपासक भी रुद्रों का जो उतना आधिपत्य है स्वराज्य है प्राप्त कर लेता है दुगुना काल प्राप्त करता है भोग काल ठीक है विद्या फलम कथित उपासना का फल बता रहे हैं सयावद इत्यादि भाषण का सयावद आदित्य पुरस्ताद उदयता पश्चात अस्तमयता वो आदित्य जब तक जितने समय में पूर्व में उदय होना पश्चिम अस्त होना होता है दृष्टावत तत्व द्विगुणम कालम दक्षिण तो उदयता उत्तर तो अस्त में था उसे दुगुना काल माने या सुमेरु पर्वत का आदित्य परिक्रमा करता है करके आप चर्चा करते हैं सुमेरु पर्वत का तो परिक्रमा करते सुमेरु पर्वत पहले पूर्व भाग में होगा आदित्य दक्षिण भाग पहुंचेगा वहां दक्षिण भाग में उदय हो गया समझना पश्चिम भाव पहुंच जाता है उधर उदय हो जाता है उनके लिए तो पूर्व ही होगा वहां निवासियों के लिए तो पूर्व पूर्व ही होगा जहां से सूर्य उदय पूर्व होगा क्यों तो हमारी दृष्टि से पहले सूर्य पूर्व में था अब की बात दक्षिण में पहुंचा होगा घूम करके आया हुआ है हमारी दृष्टि से ये व्यवस्था है ऐसा बताया निवासियों ये व्यवस्था ऐसी होगी नहीं तो दक्षिण से सूर्य कभी उदय होता नहीं पश्चिम में उदय होता नहीं है किंतु सूर्य परिक्रमा कर रहा है सूर्य पर्वत का परिक्रमा कर रहे हैं परिक्रमा के समय में पूर्व दिशा में होंगे तो पश्चिम अस्त होना होगा जब दक्षिण दिशा की तरफ सूर्य पहुंचेंगे घूम करके प्रदक्षिणा करना है तो उत्तर की तरफ अस्त होना होगा पश्चिम की तरफ उदय होंगे तो पूर्व में अस्त होना होगा उत्तर में उदय होना तो दक्षिण अस्त होना होगा परिक्रमा के समय ऐसा होता है उनके दृष्टि वहां निवासियों की दृष्टि में तो जहां से देखा वो पूर्व है उनके लिए हम जो देख रहे हैं यहां से अभी पूर्व में थे अभी दक्षिण में पहुंच गए करके बता रहे तो हमारी दृष्टि से वो ये व्यवस्था होती है <clears throat> ऐसा होगा स यावत आदित्य पुरस्ता उदयता जो आदित्य जब तक पूर्व में उदय होना पश्चात अस्त में तब पश्चिम अस्त होता है दुष्टावत तत्व द्विगुण कालम दक्षिण तक उदयता दुगुना समय दक्षिण में उदय होता है और उत्तर में अस्त होता है दुगुना समय माने क्या है यहाँ आदित्य तो बराबर घूमना है तो वहां ज्यादा समय तो रुकना नहीं है होता क्या है वहां रहने वालों के लिए भोग काल ज्यादा है आयु ज्यादा है तो इनकी अपेक्षा पशुओं की अपेक्षा ज्यादा आयु वाले हैं वो ज्यादा देर वास्तव बा, में सूर्य क्या है एक ही है जहां है वही है न उदय होता है ना अस्त होता है जितने हमारी दृष्टि में आ गई जितने समय दृष्टि पड़ती है उतने को लेकर हम भोग काल मानते हैं किसी स्थान में दो घंटे का सूर्य मिला तो भोग काल उतना ही हुआ उसका किसी घंटे में आठ घंटे के सूर्य मिला तो आठ घंटे का हो जाएगा यहां भी ऐसी व्यवस्था है तो वहां पर यह हो जाता है उनकी आयु के हिसाब से वो भोग काल ज्यादा है दक्षिण दिशावासियों का इसलिए दुगुना भोग काल मिल जाता है उनको सूर्य में वास्तव में उदयास्त होता नहीं है जितने हमारी दृष्टि पड़ी जहां तक पड़ी उतने को सूर्य को हम उदयास्त मानते हैं यही होता है इसको लेकर के भोग काल की चर्चा है वास्तव में यह नहीं कि वहां इतनी देर सूर्य बैठा रहे ऐसा नहीं होता हमारी दृष्टि ज्यादा पड़ जाती है आयु ज्यादा हमारी है दृष्टि ज्यादा पड़ जाती है ये इसका कारण से वहां व्यवस्था बनाई हुई है स यावत आदित्य पुरस्ताद उदयता पश्चात अस्थिरता जितने समय से समय को लेकर पूर्व में उदय होना पश्चिम अस्त होना होता है बीस तावत दुगुना तत्व द्विगुणम कालम दुगुना काल दक्षिणता उदयता तो अस्त में दक्षिण में उदय होना और उत्तर में अस्त होना ऐसा है यहाँ दक्षिण उदय होना माने वहां निवासियों की दृष्टि में नहीं है हमारी दृष्टि से सूर्य को परिप्रक्षणा कर रहा है सुमेरु पर्वत का प्रदक्षिणा करता है उस काल में हम शास्त्र दृष्टि से देख रहे हैं पहले पूर्व में था अभी दक्षिण में पहुंचा हुआ है इसको लेकर के उदयास्त हो रहा है वास्तव में वहां निवासियों के लिए जहां सूर्य उदय होगा वही पूर्व है उनके लिए उनकी दृष्टि से दक्षिण नहीं बनेगा ये कहना है रुद्राणाम तावत भोग काल है वो रुद्रों का भोग काल है ये कहा ठीक है हम कहते हैं यावत नाम भोग काल जितने पशुओं का भोग काल होगा पूर्व दिशावासी है पशु भोग करने वाले हैं तत्व द्विगुणों रुद्राणाम भोग काल रुद्रों का भोग काल दुगुना है यथा प्रथम अमृत अध्यायी नाम पशु भी तुल्यो भोग काल तो ये प्रथम अमृत को उपासक जितने भी थे पशुओं के समान भोग काल था उनका भी प्रथम अमृत जो रोहित रूप अमृत का उपासक थे उनका भोग काल पशुओं के समान था तथा द्वितीय अमृत नाम अपनी जो द्वितीय अमृत शुक्ल अमृत का ध्यान करने वाले हैं जो लोग उपासना करने वाले उनका भी रुद्र ही तुल्य भोग काल रुद्र के समान ही भोग काल होगा जितना रुद्र का भोग काल है उपासक को उतने काल मिलेगा ये कहा आगे मंत्र प्रसम खंडत एक साथ है भाष्य टिकारी साया अमृतम वेद आदित्यानाम को भूत्वा वरुणेन मुखेन एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यति छोड़ गया अथ यृतीयम अमृतम तद आदित्य उपजीवंती वरुणेन मुखेन न वै देवा स्नती न पीबंती एतदेवामृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति अथ यृतीयम अमृतम तद आदित्य उपजीवंती वरुणेन मुखेन न वै देवा स्नती न पीबंती एतदेवामृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतदेव रूपम अभिषम विशंति ये तस्माद रूपाद उद्यंती त एतदेव रूपम अभिषम विशंति ये तस्माद रूपाद उद्यंती स एतदेव अमृतम वेद आदित्यानामेव एको भूत्वा वर्णेनैव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट् तृप्यती स एत देव रूपम अभिशंपिशति ये तस्माद रूपादुदेति स एतदेवम अमृतम वेद आदित्यानामेव एको भूत्वा वरुणेन मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट् तृप्यति स एतदेव रूपम अभिशंपिशति ये तस्माद रूपा उदेती स यावद आदित्यो दक्षिणता तो अस्तमेता द्विस्तावत दिवसतावत पश्चात उदेता पुरस्तात अस्तमेता आदित्यानामेव आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता स यावद आदित्यो दक्षिणता उदेत्वोत्तर तो अस्तमेता द्विस्तावत पश्चात उदेता पुरस्ताद अस्तमेता आदित्यानामेव आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता अथ यत्चतुर्थम अमृतम तन मरुत उपजीवंती सोमेन मुखेन न वै देवास्तंति न पिबंती एक एतदेवामृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति अरयच्चतुर्थम अमृतम मरुत उपजीवंती सोमेन मुखेन न वै देवास्तंति न पिबंती एक दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एक रूपम अभिसंविशति विशन्ति ये तस्माद रूपाद उद्यंती देव रूपम अभिषम विशंति ये तस्माद रूपाद उद्यंती स एतद एवं अमृतम वेद मरुतामेव एको भूत्वा सोमेन मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति ये तस्माद रूपाद उदेती स य वेद भक्तामेव एको भूत्वा मुखेन एक अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्मादुपादुदेति स यावद आदित्य पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विष्टावदुत्तर उदेता तो अस्तमेता भूतामेव तावदाधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता स यावदादित्य पश्चादुदेता पुरस्ताद अस्तमेता विस्तावत उत्तरता उदेता दक्षिण को अस्तमेता भूतामेव तावत आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता अथ यद पंचमम अमृतम तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मा मुखेना न वै देवा न पिबंती एतदेव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति अथ यद पञ्चमम् अमृतम् तत्साध्य उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा स्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति न एतदेव रूपम् अभिसम्पिशन्ति एतस्मात् रूपादुद्यन्ति न एतदेव रूपम् वेद साध्यानामेव एको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिशंपिशति ये तस्मात् रूपादुदेति स एतदेव अमृतम वेद साध्यानामेव एको भूत्वा ब्रह्मणेव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिशंपिशति ये तस्मात् स यावद आदित्य उत्तरत उदेता दक्षिण दक्षिणतो अस्तमेता दृष्टावद ऊर्धम उदेता अर्वांगस्तमेता साध्यानामेव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता स यावद आदित्य उत्तरत उदेता दक्षिण दक्षिणतो अस्तमेता दृष्टावद ऊर्धम उदेता अर्वांगस्तमेता साध्यानामेव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्यता अथ ये तृतीयम अमृतम जो तृतीय अमृत है कृष्ण रूप है तृतीय अमृत कृष्ण रूप है तद आदित्य उपजीवंती आदित्य लोग उसका सेवन करते हैं वरुण ही नहीं वो मुखे वरुण के माध्यम से उपसेवन करते हैं आदित्य लोग न वही देवा स्नंदी न पीबंती वही पूर्व जैसा ये देवता लोग खाते भी नहीं पीते भी नहीं ये तो देव अमृतम तृप्ता तृप्ति सभी कर्णों के द्वारा इस अमृत का अनुभव करके तृप्त होते हैं ते एक देव रूपम अभिषम विसंधि वो देवता आदित्य लोग ते आदित्य क्या आदित्य है देवता तृतीय अमृत के उपभोगी कृष्ण रूप के उपभोगी है ये ते एक देव रूपम अभिषम विसंधि जब अपना भोग काल समाप्त हो जाता है तो इसी रूप का आगे के लक्ष्य करके उदासीन हो जाते हैं ये तस्मात रूपात उत्तर जब अपना भोग अवसर आ जाएगा पश्चिम दिशा में सूर्य आएंगे उस काल में भोग अवसर आएगा उनका उस काल में फिर उत्साहित होते हैं उस रूप को भोग करने के लिए आगे स या उपासक भी जो उपासक जो कोई उपासक होगा स मान उपासक यह जो कोई उपासक हो यह तदेव अमृतम रहा इस प्रकार के अमृत को जो जानता है कृष्ण रूप अमृत को या मधुकर आदि अथर्वांग रस आदि है साम साम है सामवेद है मधुकर असामवेद विहित कर्म पुष्प होंगे इत्यादि रस निकल रहा है इत्यादि जो जानता है वेदा आदित्या नाम एवं को भूतवा आदित्यों के साथ एक हो करके वो उपासन वरुण ही नहीं मुख्य वरुण के माध्यम से ही ये तदेव अमृतम दृष्टा तृप्ति इसी अमृत को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके तृप्त होता है स एतदेव रूपम अभिषम इस दो भी अपना भोग काल समाप्त होने पर उपासक हाँ, इस रूप को लक्ष्य करके उदासीन हो जाता है और ये अपने भोग काल अवसर आ जाने पर इसी रूप को देख कर उत्साहित हो जाता है इत्यादि और स यावत आदित्य दक्षिण तो उदयता उत्तर प्राप्त में जब तक दक्षिण में आदित्य उदित होता है और उत्तर में अस्त होता है दिशावत पश्चात उदयता पुरस्ताद अस्तमेता उसके दुगुना काल पश्चिम में उदय होना होता है पूर्व में अस्त होना होता है पश्चिम में उदय होना पूर्व में अस्त होना माने या समझने की बात यही है वहां निवासियों के लिए पश्चिम में होगा पूर्व ही होगा किंतु हमारी दृष्टि में सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं तो उस स्थिति में जो पश्चिम की तरफ सूर्य पहुंचे हैं अभी तो उदय हो गए तो पूर्व की तरफ अस्त होंगे वहां इधर अधेरा होगा इधर उजाला होगा तो इधर अंधेरा होगा पहाड़ है पहाड़ को परिक्रमा कर रहे हो यह है तो जितना समय दक्षिण दिशा में सूर्य का उदय होता है उसे दुगुना काल पश्चिम के लिए है माने उनके भोग काल ज्यादा है सूर्य में उदय अवस्था नहीं है हमारी दृष्टिगोचर जब तक होती है हमारे लिए सूर्य उदय है और हमारी दृष्टिगोचर समाप्त हो गए तो सूर्यास्त हमारे लिए है हमारे लोक व्यवहार में भी कहीं कहीं अभी इन दिनों में सूर्य बिल्कुल उदय होता ही नहीं ऐसी स्थान भी है और कहीं आठ घंटे के नौ घंटे के भी सूर्य है कहीं ऐसा भी है अपनी दृष्टिगोचर के आधार पर उदयस्त की कल्पना हम करते हैं वास्तव में सूर्य में उदयस्त नहीं है माना उनकी दृष्टिगोचर ज्यादा समय तक होता है दक्षिण वालों की अपेक्षा पश्चिम वालों के लिए दुगुना का दृष्टिगोचर होता है इसको लेकर के पश्चिम उदय होना पूर्व अस्त होना कहा वास्तव में सूर्य पश्चिम उदय होता नहीं है हमारी दृष्टि में पश्चिम है वो हम यहां से पूर्व से घूम रहे थे हम सूर्य की गति को लेकर के तो हमारी दृष्टि से पश्चिम बना हुआ है वहां के लोगों को पूर्व ही हो ये ध्यान देना सयावत आदित्य दक्षिण उदय था उत्तर तो अष्टमे था दक्षिण उदय होना जितने समय था उसका पूर्व की अपेक्षा दुगुना काल था उससे भी दुगुना काल वाला पश्चिम वालों के पास ये कहना चाहते हैं देवता पश्चात उदयता द्विस्तावत पश्चात उदयता पुरस्कार आदित्य नाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता वो जो उपासक भी आदित्यों का ही जो आधिपत्य है और स्वराज्य है वो प्राप्त करेगा यह चतुर्थम अमृतम जो चतुर्थ अमृत है जो अथवा अंगिरस मंत्र हैं उनके द्वारा देखा गया मंत्र अथवा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने देखा गया मंत्र मधुकर होंगे और इतिहास पुराण ये होंगे पारिप्लव आदि इतिहास पुराण आदि वहां पर ये पुष्प स्थान में होंगे इत्यादि जो बताया था उन्हें रस निकलना है उनको तपाना है और जाकर के उत्तर की तरफ में जाके आश्रित होगा सूर्य की उत्तर की तरफ रस आश्रित होगा इत्यादि अथा यद चतुर्थम अमृतम तत् मरुता उपजीवंती मरुद्लोक उसका सेवन करते हैं सोमेन मुखे न चंद्र सोम के मुख से चंद्रमा कुबेर के मुख से चंद्रमा के मुख से हो सकता है नवई देवा स्नती न पिबंदिका देवता लोग ही खाते पीते नहीं है किंतु इंद्रियों के माध्यम से देखकर तृप्त होते हैं पेत देव अमृतम त्रिपुरा तृप्यंती इत्यादि बढ़ाया और ते जो मरुत लोग है ते माने मरुता जो मरुत है वो मरुत ये तो देव रूपम अभिषम शांति जब हमारा भोग काल समाप्त हो जाता है तो इसी रूप को लक्ष्य करके आगे फिर हमारे जब बारी आएगी तो हम भोग करेंगे ऐसा समझ करके उसमें उदासीन हो जाते हैं भोग समाप्त होने पर और ये तस्मात बात उद्यमी जब समय आ गया भोग काल का अवसर आ गया तो उत्साहित होते हैं उसको भोग करने के लिए ये कहा और उपासक के लिए भी वैसा ही है स या ये तदेव अमृतम भेदा जो कोई इस प्रकार के चतुर्थ अमृत को जानता हो मरुताम एवं एक भूतवा उस मरुत के साथ एक हो गए सोमे नैव मुखे न सोम के मुख के द्वारा प्राधान्य के माध्यम से ही एक तदेव अमृतम दृष्टा तृप्ति वो भी इसी अमृत को इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके तृप्त होता है उपासक भी स एतदेव रूपम अभिशंभिशति ये तस्मात उपाधुरेती उपासक भी जब अपना भोग काल समाप्त हो जाता है तो इस रूप को लक्ष्य करके उदासीन हो जाता है और जब भोग काल आ जाता है तो उत्साहित हो जाता है और स यावत आदित्य पश्चात उदयता पुरस्तात अस्तमेता जितने समय में आदित्य सूर्य पश्चिम में अस्त होता है पूर्व में उदय होता है उसे दुगुना काल द्विस्तावत दुगुना समय उत्तर का उदयता दक्षिण तो अस्त होता उत्तर में उदय होना दक्षिण में अस्त होना ऐसा है मरुतामे बतावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियता कहा मरुतों का ही जो मरुद का आधिपत्य है स्वराज्य है वो काल उसको ये उपासक भी प्राप्त करेगा जो कहा अच्छा हाँ, यथा अथा यद पंचम अमृतम और पंचम अमृत है जो क्षोभते युवा कहा हुआ था ऐसा था वहां गुया आदेश मधुकर थे लोक द्वारों मपावारों इत्यादि जो गुया आदेश मधुकर के सामने थे इत्यादि यद पंचम अमृतम तत्साध्या उपजीवन साध्य लोग उसके आश्रित होते हैं उस अमृत में ब्रह्मणा मुखे ना ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म प्रधान होंगे वहां न वही देवा न ये साध्य भी देवता है खाते पीते नहीं किंतु यथ देव अमृतम दृष्टा तृप्त कहा इंद्रियों के माध्यम से हम लोग करके तृप्त होते हैं ते एतदेव रूपम अभिशम विशंति यथस्मात उद्यंती वही पूर्ववती है रूप ये देवता लोग जो साध्य लोग हैं माने अपना भोग काल समाप्त होने पर इसी रूप को लक्ष्य करके उदासीन हो जाते हैं भोग काल आने पर उत्साहित हो जाते हैं इत्यादि उपासक के लिए भी फल यही बताते हैं स या कोई भी उपासक हो एतद एवं अमृतम देव इस प्रकार की जो अमृत जो पंचम अमृत है जो जानता है क्षोभते ऐसा कहा था संचलित होना जैसा आदित्य के बीच में दिखता है कहा था ये भेद साध्यान में एको भूतवा जो साध्यों के साथ एक होकर के ब्रह्मणा भी मुख्य न के माध्यम से ही एतदेव अमृतम दृष्टा तृप्यति इसी अमृत को इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके तृप्त होता है उपासक भी स एतदेव रूपम अभिषम विशति इसी रूप के उदासीन हो जाता है भोग काल समाप्त होने पर उदासीन हो जाता है और भोग काल आ जाने पर अपने जब पंचम अमृत की बारी आएगी तो उत्साहित हो जाता है इत्यादि कहा समान है सब स याव आदित्य उत्तरता उदयता दक्षिण तो अस्तमेता वो जो वो आदित्य जब जितने समय में उत्तर से उदय होना और दक्षिण में अस्त होना होता है दृष्टावत ऊर्धो उदयता अरबान अस्त होता उतने दुगुना काल ऊपर में उदय होना और नीचे अस्त होना होता है ये सब सुमेरु पर्वत को लेकर के विचार किया जा रहा है ध्यान देना नहीं तो घटने वाला नहीं है सुमेरु पर्वत में परिक्रमा करता है सूर्य उस स्थिति की बात है साध्यानाम एवं तावत आधिपत्य में स्वराज्यम परियता वो साध्यों का आधिपत्य काल है स्वराज स्वराज्य काल है वो उपासक भी उसी को प्राप्त करेगा ये बता दिया समय हो गया है इसकी टीका भाष्य फिर कर ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्म निरा ब्रह्मनिराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणमलेषु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मणिषन्तु हे मणिषन्तु ॐ शांति शान्ति शान्ति